तीव्र रूप में होती है उसमें व्यक्ति बिना सोचे विचारे जैसे भी आता है मन में तरंगे उभरती हैं वैसे वैसे वो कार्य करता चला जाता है उससे कुछ कम अल्प मात्रा में जब क्षिप्त अवस्था होती है तो वह व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से ऐसे कार्य नहीं करता चोरी आदि मानसिक स्तर पर वो व्यक्ति ऐसे कार्य करता रहता है जो हानिकारक होते हैं उस स्थिति को रोकने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है क्षिप्त अवस्था को हटाने के लिए प्रयास करता है पर वो प्रयास में सफल नहीं हो पाता कभी कभी विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति रहते हुए भी उसकी सूक्ष्म तरंगों को वो रोकने का प्रयत्न नहीं करता वो सूक्ष्म तरंगे चलती रहती हैं वो उसको बुरा भी नहीं मानता और कभी कभी उन सूक्ष्म तरंगों को रोकने वाला व्यक्ति प्रयत्न करता है तो वो पूर्ण रोक नहीं पाता उन तरंगों को रोकते हुए व्यक्ति तत्काल सब कुछ को रोक दे नितान ऐसी स्थिति वो नहीं कर पा रहा है नितान रोक के खड़ा कर कोई नहीं कोई विचार नहीं उठा आप अपना बताएंगे क्या इस स्थिति को कभी करके देखते हैं आप इन तरंगों को रोकने की स्थिति में आप रोक नहीं पा रहे हैं कभी कभी प्रयास करते भी हैं और आप चाहें अब हम इसको नितांत रोकेंगे कोई भी विचार नहीं आने देंगे क्या ऐसा प्रयोग करते हैं कभी आप साधक जी बोलेंगे तो क्या परिणाम निकलता है अनेक बार तो बहुत अच्छा परिणाम आता है नितांतर आप बतलाओ अपना कौन कौन करते हैं हाँ बोलो क्या परिणाम निकलता है कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कोई भी विचार नहीं आए जैसे गाड़ी चलाने वाला कार चलाने वाला तत्काल तत्काल रोक दिया नहीं चलानी ऐसी मन की स्थिति बनती है या नहीं कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति बनती है स्वामी जी हम्म। फिर बाद में फिर विचार आने लग जाते हैं हाँ जी अपना अपना बताओ बनते हैं जी कुछ देर के लिए ऐसे बन जाती है अब कुछ नहीं आने देना वो कितने काल तक रहती है कुछ सेकंड तक फिर क्या होता है फिर ऐसे जो है लगातार दो तीन दिन एक बार मतलब रुका तो कुछ रुकी तो फिर आते थे अच्छा फिर रुका तो फिर कुछ रुकी तो फिर ऐसे रहता होगा आपने देखा ये नितांत देर तक क्यों नहीं रोक पाते इसका कारण तो देखो आपको सुनाई दे रहा है कारण तो देखो क्यों ऐसा नहीं होता हम ये चाहते हैं कि हम समस्त तरंगों को रोक दें और जितने काल तक रोकना चाहें उतने काल पर्यंत रोके रखें अधिकार को ये क्यों नहीं होता ये बताओ अभ्यास वगैरह की कमी था हाँ जी बोलो इससे पूर्व इस तरह की तरंगों का उठाने का अभ्यास इतना ज्यादा भर रखा है कि अब की बार उन आवेगों को रोकने में असमर्थ पाते हैं बार बार वो आवेग दोबारा आ जाते हैं एक कारण तो ये हुआ जन्म जन्मांतरों से हमने उन तरंगों को इतना उठाया है इतने भोग भोगे हैं पता नहीं कितने सैकड़ों जन्म हो गया और अधिक हो गए वो भोगते आए करते आए एक तो वो संस्कार जन्म जन्मांतर की वासनाएं इतनी प्रबल बना ली कि वो रुकती नहीं एक बात और बात को जान नहीं पाते कि इन वृत्तियों को उठाने वाला मैं हूँ एक कारण ये रहता है कि इसको नहीं जान पाता व्यक्ति इन तरंगों को मैं उठाता हूँ स्वतः नहीं उठती ये ज्ञान उसका दृढ़ नहीं होता हाँ जी प्रतिपक्ष भावना में पूरा जोर नहीं लगाते हम्म। तो जब व्यक्ति अच्छे प्रकार से ये जान लेता है कि तरंगों को मैं उठाता हूँ ऐसा उसने समझा न तो संस्कार वाली तरंगे उठेंगी जन्म जन्मांतर वाली कारण जीवात्मा मन के साथ संबद्ध नहीं होगा उठाने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा तो जब नहीं होगा तो कितने जन्मों के भी वो संस्कार क्यों न हो वो दबे तो रहेंगे पर वो जीवात्मा जब तक उसको प्रयत्न नहीं करके उठाएगा तब तक वो भी नहीं उठेंगे एक कारण जीवात्मा उन तरंगों को स्वयं उठाता है और वो ये नहीं जानता कि मैं उठाता हूं भूल ये होती अथवा उठा देता है वही उठाता है वही फिर रोकता है वही उठाता है तो वही रोकता है वही उठाता है तो वही रोकता है ये झंझट वहां पर रहता आप ऐसा प्रयोग होते हुए देख सकते हैं व्यवहार में स्वामी जी व्यवहार में कैसे उसमें योगाभ्यास में तो चित्त की वृत्तियां रोक लेते हैं उसमें कद रुक जाती पर व्यवहार काल में कैसे कैसे इसका स्पष्ट कीजिए व्यवहार काल में कैसे मन को जैसे हम गाड़ी चलाते हैं कार चलाते हैं तो कार को जहाँ चलाना चाहे चलाते हैं नहीं चलाना चाहते रोक देते हैं शरीर को हम ये हमारा शरीर जहाँ चलाना चाहते हैं वहां चले जाते हैं नहीं चाहते वहां ये शरीर का हो गया आंखों से कुछ देखना चाहते हैं देखते नहीं चाहते नहीं देखते ऐसे ही मन से जब विचारना चाहते हैं विचारते नहीं विचारना चाहते तो रोक दिया अब जैसे हम चलते फिरते विविध विचारों को देखते और उनमें हानिकारक विचार भी होते राग द्वेष के विचार होते विषय भोगों के विचार होते वो होने नहीं चाहिए आने नहीं चाहिए और वो उठा लिए जाते हैं और हम रोकना चाहते तब भी बलात् बलात् उभर जाते हैं वो ऐसा देखा जाता या नहीं देखा जाता हम हैं उनको रोकना चाहे तब भी बलात् उभर जाते हैं ऐसा देखा जाता है ये भी दो तरह की धाराएं होती है चोरी आदि डाकिये आदि बुरे कर्मों की धाराएं एक और सामान्य लौकिक किसी मित्र को याद करना किसी भाई बहन को याद करना किसी व्यक्ति के उपकार के लिए कुछ याद करना ऐसे तरंगे चलती रहती उन तरंगों को भी व्यक्ति रोकना चाहे तो वो नहीं रुकेंगे क्योंकि वो ये नहीं जानता कि इन तरंगों को मैं उठाता हूं और जिस समय वो तरंग नहीं उठानी चाहिए तब उठा लेता है अब एक व्यक्ति स्वाध्याय करता है मंत्र का स्वाध्याय करता है ऋषिकृत ग्रंथ पढ़ता और पढ़ते पढ़ते वो मित्र की बात उसकी बात इसकी बात आई और चली गई आ गई फिर चली गई उसे फिर रोकना चाह फिर आ गई जैसे ऐसे होता रहता है आप देख सकते हैं पुस्तक हाथ में लेके बैठ जाओ और फिर देखो तरंगे आएंगी आएंगी का मतलब है आप ले आएंगे आप परीक्षण कर सकते हैं आप फिर आप चाहेंगे कि इनको रोक दिया जाए केवल स्वाध्याय की पंक्ति शब्दों पर अर्थ रहे एक ऐसे जमाओ नहीं आने देना वहां बड़ी कठिनाई पड़ेगी आप एक और पंक्ति पढ़ेंगे एक और को रोकेंगे तो हूं है उसमें दो धाराएं उसमें एक एक स्थिति है उसका मन बहुत अच्छा लग गया रुचि है एक स्थिति आएगी कभी कभी उसमें अच्छा मन लग जाता है और वो उद्वेग उत्तेजना नहीं आती पर एक स्थिति है ये पर वो कभी कभी स्थिति होती है रुचि के कारण परंतु कभी कभी किसी मित्र की कोई बातचीत है कोई बात कहनी है कहीं पत्र लिखना है और दूसरे स्थिति में फिर हम सोचेंगे कि अब मित्र की बात याद मत करो अब उस संबंधी की बात याद मत करो अब जब स्वाध्याय करने लगेगा तो वो बात फिर वही उपस्थित हो जाएगी वो कभी कभी होता है वो कि उसकी रुचि बहुत हो तो कुछ और उसमें भी एक स्थिति ऐसी होती है उसको पता भी नहीं चलता वो विचार आते हैं उस व्यक्ति को पता नहीं चलता आपको पता ही नहीं चलेगा विचार आए हैं ये नहीं चलेगा आपको पता बहुत सा भाग ऐसा वो विचार सूक्ष्म होते हैं उसमें मंद इच्छा होती है जीवात्मा की उस मंद इच्छा से उभरे हुए विचारों का व्यक्ति पकड़ नहीं पाता वो मानता है कि कोई विचार नहीं आ रहा है आप सुनेंगे साधक साधिकाओं से कि आज सुनाओ आधा पौन एक घंटा कुछ विचार आए या नहीं आए तो एक साधक साधी का कहता है कि आज तो बिल्कुल ही नहीं आए भाई बिल्कुल नहीं आए ये तो बहुत ऊंची स्थिति है आधा पौन घंटा बिल्कुल नहीं आए कहता नहीं आज बिल्कुल ही नहीं आए वो मंद गति से आते रहे उनको पता भी नहीं चला ये स्थिति होती कुछ समझ में आया यदि व्यक्ति सूक्ष्म रूप से उसको देखे तो वो देख पाएगा कि हाँ विचार उभर रहे आ रहे हैं मैं रोकना चाहेगा फिर भी वो आते दिखाई देंगे और नहीं रोक पाएगा वो सूक्ष्म इच्छा होती है जीवात्मा की सूक्ष्म प्रयत्न होता है उसको वो पकड़ नहीं पाता जो तीव्र रूप में आते हैं राग द्वेष तीव्र कोई भी तीव्रता उनको वो देखता है प्रयत्न करता है तो उनको रोकने का प्रयास करता है ये जो स्थिति है नितांत अधिकार पूर्वक रोकना इच्छा पूर्वक ये स्थिति व्यक्ति को लानी पड़ती है अपनी इच्छा को प्रयत्न को ज्ञान को रोक दो क्या समझ में आया अपनी इच्छा ज्ञान प्रयत्न को रोक रोकना और ये मानना इनको उठाने वाला मैं ही हूं और कोई भी अब क्या समझ में आया दोहरा लो ज्ञान और प्रयत्नों को अपना ज्ञान कोई न कोई ज्ञान मननशील व्यक्ति कुछ न कुछ सोचेगा उस ज्ञान को रोको अपनी इच्छा को रोको और प्रयत्न जो करता है जीवात्मा मन आदि को उठाने का उसको भी रोक दो और ये मानना कि इसको उठाने वाला मैं ही हूँ अपने आप मन इंद्रिया शरीर कोई भी नहीं उठा सकता ये हो ही नहीं सकता ऐसा निर्णय करो आपको दिखता है आप रोकने लगे ऐसे उछल करके कोई विचार आ गया जैसे उसने आपको रोका फिर दूसरी ओर से उछल गया वो फिर उसने उसको से रोका फिर इस ओर फिर ईशोर ओर फिर उस ओर पता नहीं कैसे छिद्र हो होते जाते हैं और वो पकड़ नहीं पाता तो आपको क्या समझ में आया नितांत जो हम रोकते हैं उसमें अपनी इच्छा अपना ज्ञान अपना प्रयत्न जीवात्मा को रोकना पड़ता है एक अवस्था जीवात्मा ये देखता है कि बुद्धि मन इंद्रिया इनको मैं नहीं चलाऊंगा तो ये कहीं चलने वाले नहीं वो क्या करता है वो ये नहीं मान के चलता कि मन को रोकू मन न चला जाए बुद्धि को रोकू ये न चले जाए इंद्रियों को रोकू ये न चले जाए वो कहता नहीं ये ये ये बेचारने की बात ही नहीं है मन न उठ जाए विचार न ले आए इंद्रिया न चली जाए ये नहीं है वो कहता है कि मैं अपने आप नहीं करूंगा विचार स्वयं को रोकूंगा मैं तो स्वयं ज्ञान को प्रयत्न को इच्छा को रोक दूंगा मैं स्वयं को रोकूंगा तो मन को रोको बुद्धि को रोको इंद्रियों को रोको ये बात ही नहीं है अपने को रोक दो अब क्या समझ में आया हाँ जी क्या समझ में आया मन इंद्रिय बुद्धि आदि को रोकने के स्थान पर जीवात्मा का ज्ञान प्रयत्न आदि करोगे स्वयं को रोको तो स्वयं को रोको अपना ज्ञान इच्छा प्रयत्न को रोको ऐसी स्थिति बनाई उसने और ये समझा कि इन विचारों को उठाने वाला न मन है न बुद्धि है न इंद्रिया है न शरीर है इसके साथ हाँ जी वो विषय का ज्ञान को तो रो, रोका जा सकता है हम्म। परंतु ज्ञान हो रहा है इसको कैसे रोकें मैं बताता हूँ आप इसको रोकना नहीं चाहिए नहीं देखिए आप इच्छा करेंगे तो उसके पहले ज्ञान होगा कोई विषय का ज्ञान कोई भी ज्ञान हो जो इच्छा करेंगे पहले ज्ञान होगा आपका ज्ञान आप में है आप चेतन आत्मा है आपका ज्ञान कोई न कोई विचार का विषय बनाता है आपका ज्ञान जो है किसी न किसी विषय को वो रखता है भूत भविष्य वर्तमान कोई न कोई विषय को रखता है ठीक है तो वहां पर किसी को विषय न बनाओ अपने ज्ञान को रोकना है विषय का ज्ञान मुझे ना हो उसको तो रोक देता हम्म, हम्म। और ज्ञान को रोकने का ये मतलब है ये नहीं है कि उसको कुछ भी पता नहीं चले मूर्छित हो जाए ज्ञान जो कहते तो हैं ज्ञान पूर्वक किसी विषय को नहीं बनाता अपने ज्ञान को रोका उसने दो स्थिति भिन्न में उसने कहा मन को रोक दो आप ये भाषा बोलेंगे हम के मन की बात हटा दो मन को रोक दो इसको छोड़ दो हमारा जो ज्ञान है वो कोई न कोई विषय बनाता है अपने ज्ञान को वहां से रोको कि मैं किसी विषय को अपने ज्ञान का विषय किसी को नहीं बनाऊंगा वहां से रोको मुझे ये ज्ञान हो रहा है कि मैं ज्ञान को रोक रहा हूँ हाँ कोई बात नहीं इच्छा को रोक रहा हूँ हाँ ये जो ज्ञान हो रहा है इस ज्ञान को कैसे रोकना इसको नहीं रोकना <laughs> इसको नहीं रोकना कि वो ये ये अनुभूति है कि मैंने अपने ज्ञान को रोक रखा है मैंने अपने मन को रोक रखा है ये तो अनुभूति अब शरीर चलते चलते आपने कहा मैंने रोक दिया शरीर अब मैंने अपने शरीर को रोक रखा है नहीं चलता मैं हाँ जी यहाँ पर ज्ञान और इच्छा में क्या भेद है स्वामी जी भेद ये है ज्ञान तो ज्ञान है जनाएगा वो की ईश्वर भी जानता है और इच्छा की चीज की प्राप्ति की इच्छा या किसी की दूर करने की इच्छा अंतर आया समझ में ये ज्ञान मात्र होना किसी विषय का अलग उसको प्राप्त करो एक प्राप्त न करो उसको हटाने की इच्छा अथवा प्राप्ति की इच्छा ऐसे इच्छा द्वेष प्रयत्न जाना नहीं आत्मनोलिंगम ज्ञान पहले हो गया इच्छा पहले हो समझी देखो ज्ञान भी पहले ही होता है अच्छा भी दोनों साथ रहते हैं जीव आत्मा ज्ञानवान है या नहीं अच्छा जो चेतन होता है वो ज्ञानवान होता है वो इच्छावान भी होता है दोनों पहले से कार्य कारण संबंध के दृष्टि से विचारें तो क्या इच्छा ज्ञान से बाद में नहीं है हम्म। नहीं पहले तो इस सिद्धांत मन में बैठा लो जीवात्मा ज्ञानवान है जीवात्मा का ज्ञान गुण है ना जीवात्मा का गुण ज्ञान है स्वभाव तो ये ज्ञानवान है और बात जो ज्ञानवान होगा वो इच्छावान भी होगा ये अलग विषय है वो इच्छा शुभ है अलग अथवा अशुभ है ये अलग विषय ईश्वर ज्ञानवान है और इच्छावान भी है स्वामी जी जैसे ग्रहण करने की इच्छा या छोड़ने की इच्छा ये कार्य हुआ ना ज्ञान का ज्ञान उसका कारण बना तो ज्ञान पहले होगा और उसकी इच्छा बाद में होगी ना स्वामी जी नहीं देखो ऐसा होता है जब ये चलेंगे आप इच्छाएं तो बहुत सी उसने नई बनाई हुई भी है वो पहले से विद्यमान है बहुत सी इच्छा उन्हें बना के रख रखी है वो विद्यमान है पहले है या नहीं है वो उसके पास रहती है जन्म जन्म के संस्कार होते हैं इच्छाएं होती है एक स्थिति है ये एक बात और जब जन्म जन्मार की स्थिति को हटाओ थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ी देर के रोक दिया या उनका इतना निर्बल बना दिया कल्पना करेंगे तब भी जीवात्मा अपने लिए दूसरे के लिए कोई न कोई इच्छा तो रखेगा कुछ करेगा वो अपने लिए या दूसरे के लिए तो चलो हमारी जो स्थिति चल रही थी वो रोकने की स्थिति उस स्थिति में व्यक्ति देखता है मैं ज्ञानवान हूं और मैं किसी विषय को अपने ज्ञान का विषय नहीं बनाऊंगा अर्थात मन में अपने ज्ञान में किसी विषय को नहीं सोचूंगा उसको उठा दिया मैं नहीं विचारना किसी विषय में नहीं विचारना ईश्वर के विषय में भी नहीं विचारना आत्मा के विषय में भी नहीं विचारना और शरीर आदि भौतिक वस्तुओं के विषय में भी नहीं विचारना ऐसे बनाना चाहेगा वो अब देखो इसको होता है नहीं होता है हो सकता है या नहीं हो सकता बोलो अपना अपना नहीं समझ में आया हाँ जी विशाल जी क्या समझ में आया हमें किसी भी विषय पर विचारना नहीं हाँ आपको जो समझ में आता वही बोलिए अब कुछ भी नहीं बोलना नहीं हाँ नहीं ना नहीं आया नहीं आया तो इसका उपाय यही कुंठित रहेंगे आप हाँ बोलो जी किसी समय में तो बिल्कुल नहीं बनता किसी समय में थोड़े से काल के लिए बनता है किसी समय में थोड़े ज्यादा काल पहले तो ये देखो न ईश्वर के विषय में विचारना न जीवात्मा के विषय में विचारना और न भौतिक कोई भी नहीं विचारना ये स्थिति बन सकती है यानी पहले देश तो को देखो बन सकती है हाँ बोलो अपना अपना कठिन लगती है कठिन तो है ये अलग बात बनती है सिद्धांत रूप में या नहीं सिद्धांत रूप में माता जी आ गया समझ में है जी तो न एक तो स्वभाव से नहीं सोचना स्वभाव से नहीं सोचना ये भिन्न अवस्था है अधिकार पूर्वक नहीं सोचना ये भिन्न अवस्था है दोनों में अंतर है स्वभाव तो किसी का विचार ही नहीं करता अपने ठीक है शांति स्थिति है कोई नहीं सोचता कुछ नहीं करता ये ये वो अवस्था नहीं है वो ये तो अधिकार पूर्वक कहता है अब न ईश्वर के विषय में सोचूंगा और न अपने विषय में सोचूंगा और न भौतिक जगत के किसी के मैं नहीं सोचूंगा मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहता हूं ये बुद्धिपूर्वक अधिकार पूर्वक साधक जी बोली आया नहीं समझ में ये लंबे काल तक नहीं होता उसके कारण चल रहे थे तो वो तो मुख्य कारण क्या है कि लंबे काल तक स्थिति नहीं बन पाती मैं बताता हूँ इस स्थिति को बहुत लंबे काल बनाने की आवश्यकता नहीं है हम क्या समझ में आया इस स्थिति को बहुत लंबे दोहरा लो कम से कम दोहराओगे कुछ सुनोगे कुछ संस्कार स्थिति को लंबे काल तक इस तीनों के विषय में कुछ भी न विचारना इसको लंबे काल तक बनाने की आवश्यकता नहीं है लंबे काल का मतलब कितना लंबे काल का मतलब आपने पांच मिनट बनाए आप दस बना लिया और इतने से पता चल गया कि हम बिल्कुल रोक सकते हैं कोई बाधित करने वाला मन इंद्रिया कोई मुझे इधर उधर डामाडोल नहीं कर पाएगा अच्छी तरह पता चल गया कि मैं और भी यदि इसको रोकना चाहूं तो रोक सकता हूं पर मैंने रोक के अब क्या करना है अब आप बताओ क्या समझ में अब आपने इसलिए रोका है अधिकार पूर्वक सदा चलाएंगे अनधिकृत कोई विचार उभरेगा घसीट के ले जाएगा कोई विचार आप वो घटनाएं सारी रोक देंगे आप अब फिर बोलिए नहीं आया तो सुन पांच मिनट अच्छी तरह रोक दिया निश्चित हो गया मैं इसको दस भी रोक सकता हूं पक्का हो गया ये तीनों के विषय में नहीं सोचने वाली स्थिति को मैं और लंबे काल तक पर उसमें अधिक लंबे काल तक रखने में प्रयोजन नहीं है हमारा कोई इतना समय क्यों लगाए अब समझ में आया हो तो बोलिए बोलो कुछ ना कुछ विचार करके लाभ लेना है वो समय को क्यों नष्ट करके छोड़े वहाँ पर हाँ अब हमने पता, पूरा पता लगा लिया अधिकार हो गया चाहे जब चाहे जितनी देर नितान्त रोक सकते हैं उसमें क्या होता है बलात् अनधिकृत बिना चाहे हुआ जैसा चाहे तो किसी है हमारी स्थिति को बिगाड़ डालता है अब बताओ क्या करोगे तो नियंत्रण करने की था इसके बिना वो नियंत्रण नहीं हो पाता इतना अधिकार करना पड़ेगा आपने ये तो पढ़ाई है परमाणु परम महत्व अंतवश्य भी स्वीकार है या नहीं पढ़ा वो क्या है वो अधिकार पूर्वक के विषय में लगाया लगा रहा है या नहीं अधिकार पूर्वक लंबे काल तक एक ही विषय में रखता है छोटे से छोटे बड़े से रखता है नहीं रखता हाँ जी थोड़े काल तक विचार को रोके रहते हैं हाँ चाहे जितनी देर रोकना चाहे ये सिद्ध नहीं हो पाती है उसमें हमें हाँ, मैं बताता हूँ जैसे आप चाहे का अर्थ ले लो पहले हाँ नहीं नहीं पहले आपने ये देखना आधा घंटा रोकने का प्रयोजन क्या है पहले तो इसको देखो कभी कभी स्थिति आती है कि घंटों दो दो घंटे तक किसी एक विचार को रोकना चाहते हैं फिर भी वो नहीं रुकता है हाँ। ऐसे काम में हम चाहते हैं कि एक घंटा तक बिल्कुल नहीं विचार रखे हाँ, हाँ, नहीं नहीं एक बात है मान लो आपका मन एक घंटा तक बड़ी संघर्ष चलता है तो उसमें आप चाहे जितनी देर तक रोको फिर जब तक वो आपका जो विचार है ना जो आ रहा बलात् उतना ही समय लगा दो मैं इतने समय तक भी रोक सकता हूँ वो स्थिति ऐसी आएगी आप उसको असल में वहां समझने में कुछ भूल है वो जो विचार उभर रहा है उस विचार को आप ये मान के चल रहे हैं वो स्वतः उठ रहा है भूल वहां पर ये हो रही है जो आप कहते हैं ना मैं प्रयत्न करता हूँ वो उसमें दिमाग ये काम करता वो विचार स्वतः उठ रहा है एक दो से पांच मिनट रोकते हैं हम्म। उसी नियम से आगे भी रुकेगा अब मैं बताता हूँ जैसे अब पांच मिनट तक रोकना है मान के चलिए यदि यदि हम आत्मा को समझ गए आत्मा की इच्छा प्रयत्न को समझ गए तो देखना यह है कि उसके विचार को उठाने में हेतु क्या बनेगा मान लो पांच के साथ दस करना चाहेगा कोई हेतु नहीं बन पाएगा कि तो पांच मिनट दस मिनट एक घंटा उसी से हो जाएगा नहीं नहीं पता चला हम्म। नहीं ध्यान देना यह है कि आपको शांति पूर्वक ये प्रतीति होगी कि पांच मिनट मैंने अधिकार पूर्वक रोक दिया ये स्थिति है अब आप चाहेंगे कि मैं दस मिनट रोक दू मुझे आवश्यकता है तो यदि आप चाहेंगे इतनी अपेक्षा है तो आप दस मिनट भी रोक सकते हैं और यदि आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर प्रश्न खड़ा होगा कि दस मिनट तो हमने रोक लिया अब आगे रोक के हमें करना क्या बिल्कुल रोक देने बताए थे ना और तीनों को रोकने से जो बताए थे ना ज्ञान प्रयत्न और इच्छा वहां से आप पकड़िए और ये दिमाग रखिए कि मैं ही चलाता हूं ये संचालक अपने आप को शत प्रतिशत मानना न ईश्वर चलाता है न इंद्रिया चलाती है ये भी ध्यान रहना चाहिए नहीं तो एक ज्ञान से दूसरी बात और सुनो यदि सहयोग लेना हो सहायता लेनी हो ना बाहर से वो इसमें सहायता ली जाती है इसी स्थिति को बनाएंगे वो क्या होता है वो आपको करना आता है हमने प्रलयवत अवस्था बना डाली क्या समझ में आया प्रलयवत अवस्था में स्वयं और सारा संसार प्रलय को प्राप्त हो गया अब विषय क्या रहे हमारे पास अब बताओ समझ में आया नहीं आया प्रलयावस्था जो एक विषय रहेगा कौन से रहेंगे प्रलयावस्था जो बनी रहेगी प्रलयावस्था बनी हुई हुई उसमें ये जो है ना विविध विषय जीव उद्वेग उसमें जीवात्मा को अलग कर दो ईश्वर है सिद्ध ईश्वर है हम भी सिद्ध हैं प्रकृति सत्व रजतम है तीन तो ये विषय हो गए अब जो जितने विषय हैं दुनिया के जो आ सकती हैं तरंगे वो सारी खत्म हो गई कितनी कम हो गई देखिए ना एक ईश्वर है हमारे सामने वो सिद्ध है हमने सच्चिदानंद है उसके विषय में कुछ नहीं सोचना जान लिया जीवात्मा सत्य चेत है ये भी जान लिया इसके अंदर जिज्ञासा तो है नहीं जिज्ञासा भी नहीं रखनी है वहां जिज्ञासा ज्ञान है नहीं समझ रहे मेरी बात जानने की इच्छा रहेगी ना आपके मन में वो भी नहीं आपको जमने देगी ईश्वर को हमने समझ लिया कि सच्चिदानंद है और उसके विषय में अभी सोचना नहीं जीवात्मा सत्य चेत है समझ लिया इच्छा द्वेष प्रयत्न ये जीवात्मा का स्तर है सत्व रजतम प्रकाश क्रिया स्थितिशील वाले हैं ये थोड़े विषय हो गए शेष है तत्व से लेकर के यहां तक जो विषय उभर सकते थे वो उभरेंगे ही ना सुख और ना सुख का साधन न दुख और न दुख का साधन चारों नहीं रहेंगे आपके सामने जिनके विषय में विचार तरंगे उठती है यदि आप प्रलवत अवस्था बनाते हैं तो फिर और सुविधा हो गई है कुछ समझ में आया ये एक बात है हाँ जी प्रलयवत अवस्था को आपने बताया लंबे काल तक बनाना चाहिए शांति मिलती है कोई विषय नहीं होते मन को रोकने का और उस तरफ वो निर्विचार वैश्य करने वाली कोई विषय ही नहीं उठाएंगे वो अल्पकाल की आवश्यकता आदि की बनाने की जरूरत नहीं है हम्म। अब देखो पहले इस विषय को जोड़ो हमको ये देखना था कि नितांत विचार को रोकने में ये साधन है इतने को सीमित बनाइए आप को साधन माने नितांत रोकने में हाँ साधन मानना है और जब विचार करेंगे अलग विषय हो गया ना हमने प्रलवत बना के रख दिया उसको नहीं तो विविध विषय जो बहुत उठते हैं वो विविध विषय नहीं उठेंगे अवस्था में भी तो कोई विचार नहीं आना ना ना ना ना अवस्था में विचरता रहता जीवात्मा जीवात्मा प्रलवत अवस्था बना करके ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ना और इन चीजों में बिखेरता रहता है उसका, हाँ, उसका साधन है ये आप ध्यान काल में इसको प्रलवत बना दीजिए तो जितनी वृत्तियां उठती हैं वो इतनी कम हो जाएंगी इतनी कम हो जाएंगी कि ध्यान में बाधा नहीं पड़ेगी और ये विषय क्या होता है अब घास का आ गया अब रोटी का आ गया अब पानी का आ गया अब पता नहीं भूत का आ गया इतने विषय उठते हैं ध्यान काल में और प्रलबत अवस्था बना दीजिए आप तो प्रलबत अवस्था में महत्व समाप्त कर दिया आपने तो ये विषय उठने बंद हो गए तो जट वृत्ति निरोधक की स्थिति आ जाएगी ये प्रयोग बहुत लंबे काल से चले जो मैं प्रयोग करता रहता हूं और आजकल इनके प्रयोगों का ये देखा गया कि कई वर्ष कहना चाहिए पहले तो होता था कि आंख बंद करके मैं इस स्थिति को ला पाता था प्रलयत अवस्था बना पाता था आंख खुलने पर प्रलवत अवस्था नहीं बनती थी और जब नहीं बनती तो व्यक्ति की आकृति आती थी आकृति वृत्ति निरोध को भंग करती थी तो आंख बंद करे रहो कम देखो कम से कम आकृति को बनने मत दो <clears throat> यदि वो खुलती है तो फिर हमारे अधिकार में आकृति को रोकने की शक्ति नहीं रहती तो आकृति आएगी आएगी तो वृत्ति निरोध नहीं रहेगा एक स्थिति फिर ये विचार किया गया यदि ये आंख बंद करके स्थिति बनाई जा सकती है तो खोल के भी बनाई जानी चाहिए अब फिर ये अभ्यास किया अब देखने लगे कि खोल करके बनाओ प्रलवत अवस्था अब खोल करके बनाने की स्थिति आ गई आगे चल के आंख खुली रहेंगी प्रलवत अवस्था बना करके वो अपना काम करते रहेंगे आप अब आगे बढ़ जाओ फिर ये स्थिति आई कि ये जो विचार हैं कोई न कोई विचार उठता रहता है उल्टा सीधा तत्काल ये क्यों उठता है रोको नितान्त रोको इसको अनियमित तो वजह तो फिर देखो कि नितांत रोकने की स्थिति आ सकती है यानी नितांत सभी विषयों से फिर इसका प्रयोग किया नितांत रोकने वाली का तो नितांत रोकने वाली स्थिति को बना लिया कि हां नितांत रोका जा सकता है नितांत जिसको कहते ना नितांत समझे नहीं विषय ही नहीं बनाना न ईश्वर को विषय बनाना न आत्मा को बनाना न भौतिक नहीं बनाना अच्छा मोटा दृष्टांत कहां से मिलेगा आप गार्ड निद्रा को ले लो अथवा क्लोरफार्म सुंगाने के उस समय नितांत रुक जाते हैं या नहीं रुकते स्थिति वही बनती है ना कोई न कोई चाहे कुंठित होके साधन कुंठित होके बनी हो चाहे निद्रा से बनी हो क्लोरोफार्म से बनी हो या ये ध्यान की स्थिति है जिसमें कोई नहीं कुछ नहीं विचारता अच्छा मूर्छा की ऐसी स्थिति है या नहीं जो कुछ नहीं विचारता इस पर देखो ध्यान दो है मूर्छा अति अवस्था जाओ में कुछ नहीं विचार पाता ना या नहीं समझे आप नितांत विचार रुकते ये ज्ञान पूर्वक रुकते निद्रा में अंदर के अनुभूत होते विषय बाहर वहां रुके हुए होते अं-, अंदर की अनुभूतियां तो संस्कार डालती है पर विषय मात्र वहां बाहर के रुके हुए होते हैं निद्रा काल में वो ज्ञानपूर्वक पूर्वक नहीं होते सुसुप्ति अवस्था में अनुभूति होती है नहीं पड़े आपने सुखम एवं स्वाप्सम दुखम एवं स्वापसम गाढ़ मूढ़ वुड तो वो अनुभूति होती है वो ज्ञानपूर्वक नहीं होती होती है अच्छा ये स्थिति क्या है इसमें ज्ञानपूर्वक सारी बातों को रोक दिया जाता है अब ये स्थिति जब आ गई हाथ में तो चाहे जिस विषय को चाहे जब रोक देंगे वो आक्रमण करके अंदर नहीं घुस सकता चाहे जिस विषय को चाहे जब रोक देंगे उपासना काल में विचार नहीं विचार नहीं उसको रोकने में सामर्थ्य आ गया अन्य विषय को अब नहीं उठाना ईश्वर को छोड़ के एकाग्रता के लिए ऐसी स्थिति बन गई उसको छेड़छाड़ करके या अपने ही प्रयत्न से विषय हमको हटा नहीं पाते और जब होती है ऐसी स्थिति तो तत्काल सारे विचारों को रोक देता है वो <laughs> फिर अपनी स्थिति बनाता है फिर अपनी स्थिति बना के फिर एक विषय में लगाता है ऐसे ऐसे इसके प्रयोग होते कुछ आया समझ में हम्म? हाँ जी तीन बातें आपने बताई स्वामी जी कि ज्ञान इच्छा और प्रयत्न हाँ, हाँ। इन तीनों को रोक दें तो ये विचार सब बंद हो जाएंगे हम्म। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इन लोगों को दो शब्द तो समझ में आ रहे हैं हाँ। इच्छा और प्रयत्न जो ज्ञान शब्द है ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है क्या इसकी जगह संस्कार शब्द रख दें संस्कार शब्द ज्ञान के स्थान पर संस्कार शब्द रख दें तो वही अर्थ निकलेगा या बदल जाएगा संस्कार संस्कार होती है छाप ज्ञान होता है अपना जो किसी विषय की अनुभूति करवाता है और संस्कार उत्पन्न करता है ज्ञान को जिस जिस चीज को आप ज्ञान शब्द से कह रहे हैं क्या उसी को संस्कार शब्द से कहें तो वो बात नहीं बनेगी वैसे नहीं बनेंगे संस्कार उसमें अंतर है जीवात्मा में जो स्वाभाविक ज्ञान है ना वो ज्ञान की किसी को विषय बनाएगा सीधा बनाए या संस्कार के उसको बनाए तो हमने अपना जो ज्ञान विषय बनाता है विषय बनाना हटा दो अपने ज्ञान के द्वारा किसी विषय को मत बनाओ को तो रोकने के लिए ये दो तीन उपाय बताए थे ना स्वामी जी एक तो ज्ञान को रोका एक इच्छा जो होती है ना हमारी किसी चीज की वो इच्छा किसी की भी होती है वो रोक दो और फिर जीव आत्मा जब उठाएगा किसी विषय को उठाएगा तो प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा सूक्ष्म प्रयत्न सूक्ष्म प्रयत्न करेगा तभी इच्छा होगी और प्रयत्न करेगा तभी ज्ञान काम करने लगेगा ये जो ज्ञान है इसको थोड़ा और <laughs> तो ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो इसको देखो मैं अभी जानता हूं आप दिख मुझे दिख रहे हो मैं जानता हूं अब मेरा ज्ञान किसी न किसी विषय को बनाएगा पास वाले को दूर वाले को स्मृति उठाएगा मेरा ज्ञान जो है वो किसी को विषय बनाएगा ये ध्यान से विषय उसका कोई न कोई विषय बनेगा ज्ञान का और विषय न बनना विषय ही न बनाना जैसे ईश्वर को विषय बनाना एक आत्मा को सोचने का आत्मा आशा है ये विषय बनाना किसी को विषय लेके सोचो वो ज्ञान जो हमारा काम करता है वो किसी को विषय बनाता है अब उसने क्या कहा जीवात्मा को नहीं सोचना है मैंने जीवात्मा को विचार नहीं करना है और ईश्वर का विचार नहीं करना है शरीर का विचार नहीं करना है वो कहता मैं किसी का भी विचार नहीं करना है ये देखो थोड़ा सा तो नष्ट नहीं की जा सकती है तो सोचना चलो वो नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है अब <laughs> हाँ, और आगे तो प्रयोग जो हम करते रहते हैं बहुत प्रयोग करने पड़ते हैं दिन रात अर्थात ये चलता फिरता खाता पीता पढ़ाता पढ़ता सब ये विशेष लगातार प्रयोग में आते रहते हैं आते रहते तो वो व्यक्ति परीक्षण करता जाता है परीक्षण करता जाता है तो ये अनुभूतियां भिन्न भिन्न प्रकार से होती जाती है तो चलो उसको कई बार विचार हो गए तो आने लग जाएगा समय चलो